खेलते हैं अब देखो यहाँ बताते हैं जनन सुविधाई माता को कौशल्या को और माताएं उन सबको भगवान की सब लीलाएं देख करके उनका खेलना देख करके सब आनंदित होती बड़ी प्रसन्नता उनको होती है तो सबको सुख देने के लिए भगवान इस प्रकार से खेलते हैं मरकत मजदूर कलेवर श्यामा अब देखो पहले तो ये हो गया कि राजभवन हो गया आनंद हो गया आनंद में चारों भाई हो गए अब उसके बाद में अब तो भगवान श्री राम जी के शरीर पर आ गया उनका सुंदर शरीर तो कहते हैं मरकत मृदुल कलेवर श्यामा मरकत मन की तरह से उनका कंचन आकार हुआ सुंदर शरीर अति सुंदर है अंग अंग प्रतिक्षण बहुकामा उनका शरीर अंग बहुत सुंदर है और करोड़ों काम की सुंदरता की भी ज्यादा सुंदर है तो मैंने जहाँ तक आपकी कल्पना सुंदरता की आप यहाँ तक ध्यान नहीं करें पहले चरण लो वहां से शुरू करो तो कहते हैं नवराजीव अरुण मृत चरणा उनके चरण बिल्कुल मृद कोमल चरण है जैसे नया नया कमल हो हाँ, कमल नया कमल जो होगा उसमें कठोरता भी नहीं आई बिल्कुल कोमलता है और बहुत उसका अरुण वर्ण भी बहुत सुंदर है हाँ, तो कहते हैं नवराजीव अरुण उसके समान कमल के समान अरुण और मृद चरणा मन कोमल भी चरण भगवान के बहुत है और पद रुच और पदज रुचिर अब चरणों में देखो तो चरण की उंगलियां देखो हम्म? उंगलियां पैरों की है उनको कहते हैं पदज पदज की माने पैर की उंगलियां और रुचिर बड़ी सुंदर उंगलियां पैरों की अच्छा उंगलियों में देखो नाखून भी है कि नहीं है यहाँ नाखून भी है वो कहते हैं नख सत्य दुखी हरना ये नख जो है वो वो भी चमक रहे हैं जैसे चंद्रमा चमक रहा हो सफेद जैसे चंद्रमा सफेद और चमचमाता हुआ है ऐसे हर कुंडली में नाखून जो है वो सफेद चंद्रमा की तरह से चमक रहा है ऐसे देखते तो ये उदाहरण प्रकृति के तो उदाहरण लोग क्योंकि तो देखे हुए हैं परमात्मा के कर्ण तो देखे हुए नहीं है इसलिए चंद्रमा की शोभा को लेकर के वहां पर अपने ध्यान में आरोपित करो कि भगवान के चरण की चरण इस प्रकार से कोमल है उनके पैरों के तलवे इत्यादि इस प्रकार से अरुण वर्ण है उनकी उंगलियां ऐसी सुंदर है उनके नाखून ऐसे चमकते हुए प्रकाशमान ऐसे सुंदर है ये ध्यान करने के लिए संविधान बता रहे तुलसीदास जैसा कि वर्णन कर रहे हैं ऐसे अब फिर पैरों <clears throat> के बाद में उंगलियों के बाद में फिर क्या ललित अंत कुल साधिक चारी अब भगवान के तलवे देखो और उनमें रेखाएं बनी है उन रेखाओं को देखो हम्म, उनमें <clears throat> अंकुश का मैंने मतलब वज्र का चिन्ह बना हुआ ध्वज का बना हुआ है ये चिन्ह इस प्रकार से भगवान के चरणों में चार चिन्ह है वो तो चारों चिन्ह उनको देखो अब कहते हैं ये ललित अंक कुल साधिकारी और नूपुर चार मधुर रवकारी और फिर देखो तो उनको पैरों में उनके पाजेबें बनी हुई है गुरुदार में बनी हुई है तो वे जब भगवान चलते हैं तो वो आवाज करते हैं छुन छुन के आवाज आभूषण भी धारण किए हुए भगवान तो उनको भी देखो वो भी बड़े सुंदर है मधुर कविकारी बड़े सुंदर ध्वनि में उत्पन्न होती है उसको भी देखो और फिर कहते हैं अब जरा चरणों के ऊपर आकर के कमर में बदली कर ध्वनि देखो हम्म। कैसे चार पुरट मन रचित बनाई सुंदर पुरट मन सोने और मणियों से जल करके बनाई हुई उनके जो है वो कमर में बदली हुई कर ध्वनि देखो तो कट कीमती कट कीमती कमर में बंधी हुई कर ध्वनि है जिनमें की उसमें भी बजने के लिए वो लगे हुए हैं बजने वाली गुरु लगे हुए हैं और कल मुखर सुहाई वो दोनों बातें हैं वो कल धनी सुंदर भी है कल सुंदर भी है और मुखर मन उसे मधुर धन भी कर रही हो ऐसे करके करधनी के दोनों को है वो भी उनको देखो कमर पर बनी हुई उसको फिर अब उसके करधनी के बाद उनके उदर को देखो तो कहते हैं रेखा रहे सुंदर उदर और नाभी रुचिर गंभीर अब देखो एक एक अंश करके सुबह बताते हैं और क्रम क्रम से आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से ध्यान करते हुए भगवान के शरीर का ध्यान करो एक एक का ध्यान करते हुए और उसके बाद दूसरे अंक को उसके बाद दूसरे अंक को उसके बाद दूसरे अंक को इस प्रकार से पैरों से लेकर के इनके मुख तक सिर तक उनको सबको देखो तो ये कहते हैं रहे सुंदर उदर उनके उदर में तीन रेखाएं हम्म, रगनी पड़ जाती है पैर पेट में तो उस प्रकार की वो तीन रेखाएं बनी नाग भी देखो उनके सुंदर नाज ही रुचिर गंभीर गंभीर सुंदर नाज उनके वो भी देखो उसके बाद फिर उनके वक्ष को देखो उधर के बाद में फिर उनका वक्ष आ गया <clears throat> तो गुर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर अपने जब उनको देखो तो गुर आयत आयत के मैंने वक्ष थोड़ा बड़ा चौड़ी छाती पुष्ट इस प्रकार में देखे और भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर उसके ऊपर <clears throat> बालकों को जो आभूषण पहनाए जाते हैं वो पहने हुए हैं वक्त जैसे बालकों बालकों को पहनाए जाते हैं वो पहने हुए हैं इस प्रकार से भगवान जन्म लिया अति ही जैसे बाल जब देखते हैं बाल लीला के वर्णन करते समय बाल को वहाँ वर्णन किया था कि भगवान जो है वो पीले रंग की जंगली पहने बच्चों को जो वस्त्र पहना जंगली मन पीला वस्त्र एक उनको पीले रंग का पहलाया हुआ है तो पहने हुए इस प्रकार से यहाँ पर देखो ये वस्त्र आभूषण भी उनके शरीर पर धारण किए हुए हैं अब आगे उनका शरीर कैसे सुंदर है देखो एक एक अंग का भरण इससे विस्तार कर करते हैं अब कालभूषण जी को चूंकि इष्टदेव यही है और यही उनको बात प्रिय है इसलिए वही विस्तार करे चले जाएंगे पर उसको संक्षेप नहीं गए पूरा उनका मन उसी में रम गया वही याद आ गया तो बस वही ध्यान धरे हुए हैं वही बोलते चले जाते हैं अरुण पाणी नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंददाल के हरिदर कीवा चार चिबुकयानन छवि सीमा कल बल बचन अधरे नारे दुई दुई जसन सद बारे ललित कपोल मनोहर नाता सकल सुखद शशिकर समाता नीलकंज भवमोचन भाजत भाल तिलक गोरोचन विकट प्रकृत समश्रमण सुहाये

सिद्ध मोई होती सिद्धिरा मोई धरण जग रामई जलम भाग सब कूप दिखामई आवत निकट हसही प्रभु भाग तरुदन कराई जाम समी दान पद फिर फिर चितई पराई प्राकृत से लीला देख भयो मुहियो कवन करे करत प्रभु चिदानंद समो राम निज मनोहर अब उसके बाद देखो कि अब हाथ देखो भगवान के पानी मन का हाथ देखो और करज देखो करज के माने उंगलियां जैसे पलट कर की उंगलियां हाथ की उंगलियां और उनके हाथ की सुंदर उंगलियां देखो और फिर उनके भी नख देखो हाथ की सुंदर उंगलियों के ये सब बड़े सुंदर है और बाबू विशाल विभूषण सुंदर बाबू भगवान के विशाल शरीर के अनुपात में उनके अन्य लोगों की जैसे बाढ़ होती थोड़ी छोटी इनकी बड़ी बाहें थोड़ी बनती आजान बाहु जिसे कहते हैं तो बाहु विशाल विभूषण सुंदर और सब सुंदर आभूषण धारण किए हुए उनके बाहों में भी तो कंध बाल की हरि दरिक्रीबा कंध बाल की हरि उनके कंधे देखो कैसे हैं जैसे बाल की हरि हो सिंह जैसे छोटा सिंह हो उसके जैसे कंधे बहुत मजबूत दिखाई देते इस प्रकार के पुष्प मजबूत दिखाई देते बाल के हरी और दरिद गरीबा और गरीब गला उनका कहता है संत के समान उनका सुंदर गला है चार सिलुक अब उनकी सिलुक देखो थोड़ी देखो उनकी आनंद छवि सीमा और मुक्त बहुत ही सुंदर है बहुत सुंदर सुखी मन सौंदर्य की सीमा है इससे ज्यादा सौंदर्य क्या होगा अत्यधिक सौंदर्य सौंदर्य निधान भगवान और उनके त्रिभुज में उसी प्रकार से छोटी रहती सुंदर और कलबल वचन अधर अरुणागे और उनके अधर देखो उनके अधर में ऊँट उनके जो है वो अरुण रंग के लाल रंग के उनके ऊँट और फिर उनका बोलना कलबल वचन माने साफ साफ बोलते नहीं जैसे बच्चे के दिल में कुछ बोलते हैं ऐसे करके वो कुछ बोल रहे हैं तो कलबल वचन अधर अरुलारे और दो दो दसन विशद बरबारे और दो दांत निकले दो दो और दसन विशद बारे दो दो दशक जो है बहुत सुंदर निर्मल विशद के निर्मल निर्मलता एकदम स्वच्छ चमचमाते विशद के मन बड़े बड़े नहीं है विशाल दांत नहीं विशद के मन शुद्र दांत है वो निर्मल है निर्दोष दांत इस प्रकार के विशद बारे और कहते हैं ललित कपूर मनोहर नाता और ललित कपूर उनके सुंदर उनके गाल अब देखो उनके वो भी कपोल भी बहुत सुंदर और मनोहर नाता नासिका देखो तो वो भी बड़ी सुंदर सब एक और सकल सुखद सफिकर समासा और सभी इतने सुंदर मुखमंडल है उनका सबका बहुत सुख देने वाला है अब भगवान की हंसी को देखो भगवान बड़े खेल रहे हैं बड़े प्रसन्न होकर के हंसते हुए खेल रहे हैं तो हंसती हंसी उनकी कैसी है कि सफिकर समासा जैसे चंद्रमा की किरणें जो है वो वो जैसे फैलती है चारों तरफ ऐसे भगवान की हंसी चारों तरफ फैल रही है हंस रहे हैं प्रसन्न है उनको तो उनकी प्रसन्नता को भी इस प्रकार चंद्रमा ने बताया वहां बाल लीला का वर्णन करते हुए तुलसीदास तो जी ने वर्णन किया कि देखो भगवान के जो वो हृदय में हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाश चंद्रमा तो उनके हृदय में बात करता है और प्रकाशित हो रहा है और मुख से जो वचन उनके निकलते हैं वो वो बस बिल्कुल चंद्रमा की जैसे किरण हो उस प्रकार की उनकी प्रसन्नता मुख से सूचित हाँ, उनके इसी प्रकार से उसका जो उनके अनुग्रह का सूचन करने वाली उनका जो हाथ है मधुर हाथ भगवान का है जो तो कहते हैं कि चंद्र उनके हृदय में चंद्रमा की तरह शीतलता और प्रकाश और वो फिर उनके मुख के द्वारा वो प्रकाशित हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर बताया शशिकर समहासा चंद्रमा की किरणों के समान है और कंज लोचन भव मोचन अच्छा अब उनके लोचन नेत्र भगवान के देखो कैसे सुंदर है कंज जैसे नीला कमल हो उसकी पंखुड़िया हो ऐसे भगवान के नेत्र हैं और मोचन बस भगवान की कृपा दृष्टि ही जिस पर पड़े वो संसार के बंधन से छूट जाए संसार चक्र में तब तक खड़ा जब तक भगवान की कृपा नहीं होती दृष्टि के पास दृष्टि ही संसार के बंधनों से छुड़ा देने वाली उनकी दृष्टि है भाजत भाल तिलक गुरुचन और उनके मस्तक को देखो उनके ऊपर गुरुचन का तिलक लगा हुआ है विकट प्रगुट संश्रमण सुहाय और विकट प्रगुटी भगवान विकट में टेढ़ी विकट मैंने गुस्से में नहीं है मैंने तिरछी भगवान उनके गोलाकार भूमि है तो सुंदर भूमि गोलाकार भूमि होती है वो तो विकट प्रकृति और सम श्रवण सुहाये और दोनों तरफ के कान जो है वो बहुत सुंदर है वो भी देखो समान दोनों के कान जो है बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और कुंचित कट और उनके बाल जो है घुंघराले और नेचक छल छाए और काले बाल तो काले और घुंघराले बाल भगवान के हैं वो भी बड़े सुंदर लग रहे हैं तब देखो भगवान के सब अंग अंग स्वभाव हम करते आते हैं तो ध्यान करते समय भी ऐसे ही ध्यान करो उनके बालों का भी ध्यान करो नेत्रों का भी ध्यान करो उनके मस्तक का भी ध्यान करो सब इस प्रकार के क्रम क्रम से अब बालों तक पहुंच गए अब कहते हैं जंगली तन सोही अब सब वहां तक सर तक पहुंच गए अब शरीर के ऊपर जो है धारण किए हैं उसको भी बता दिया कि तीत झीन जंगली तन सोही झीनी की मैंने मैंने इसमें हवा लगे शरीर में मैंने हवादार उसमें पतली है? हाँ? उसमें जैसे खूब जो है वो कपड़े की जंगली पहने हुए हल्की जंगली तन सोही शरीर पर सोच सोच सर्दी के दिन नहीं तो सर्द करवा रहे गर्मी की बात हाँ, इसलिए जो झीनी झंडी पहने हुए और, अकेले कहने से ने भावत मोही और भगवान जो है वो हंसते हैं तो हंसते क्या खिलकते हैं जैसे बच्चे जो है वो किलकारी मार करके हंसते हैं उसका स्मरण करें और किलकत चितवन भावत मोही और जब वो कहते हैं कि भगवान हमारी तरफ देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है काभूषण को देखो भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं अब भगवान की दृष्टि तो भवमोचनी है और भगवान ने काभूषण की तरफ देख दिया तो कितना देखो उनका जो सारे ताप दूर हो गए सब बंधन उनके छूट गए सारा उनके जन दूर हो गए तो रूप रास नृप अजय बिहारी ऐसे समस्त रूपों के भंडार भगवान जो है वो महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करते हैं नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी और अपना प्रतिबिंब देख करके नाचते अब वो पहले बताया है कि राजा का भवन जो ये भवन है वो सोने का और मणियों का जड़ा हुआ सब बना हुआ है तो जहाँ भगवान खड़े होते हैं तो खम्भों में उनकी परछाई दिखाई देती है तो जब परछाई दिखाई देती है तो परछाई नाचती दिखाई देती है तो उसको देख देख करके भगवान भी नाचते हैं अब उनको अब और लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान को भ्रम हो गया है कि जैसे हम हैं ऐसे ही कोई बालक इस कमरे में भी है हम्म? तो उसको अपने ही समान मान करके और फिर उसके साथ में खेलते हैं हम्म? तो कहते हैं कि रूप रास अजर बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी अपने प्रतिबिंब को देख करके नाचते ऐसे ही ज्ञानी लोग जब देखते हैं कि हमारा ही प्रतिबिंब समस्त प्राणियों में हाँ, तो नाचते हैं वाह कैसे सारे संसार में जितने प्राणी सब हमारे ही प्रतिबिंब और कैसा हमारा प्रतिबिंब सब जगह पड़ रहा है सबके सब देखो इसी चेतना से चेतन होकर के प्रकाशित होकर के ऐसे कैसे कैसे कैसे लीलाएं कर रहे हैं कैसे कैसे खेल कर रहे हैं संसार के लोग देखो लीला अपना भगवान का प्रतिबिंब जो है देखते हैं भगवान तो नाचे निज प्रतिबिंब निहारी और मुई सन करें विविध विधि क्रीड़ा और फिर कहते हैं वो भगवान जो है हमारे साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं भगवान करते हैं तो भगवान की क्रीड़ाएं भगवान कैसे करने लगे अब देखो भगवान ने काभूषण की तरफ देखा तो अब ये देखो भगवान की कृपा हुई उनकी तरफ देखा अब काभूषण जी के साथ फिर उसके बाद में लीलाएं भी करने लगे लीलाएं कैसे करने लगे तो कहते हैं वर्ण समूह मोह होती है तो क्रीड़ा अब हम उनकी लीलाओं का क्या बताऊं ऐसे करते हैं कि ये कहने में लज्जा लगती है ये लगे कि आपको तो कहूँ कहाँ तुम कहूँगा और कहा हुए भगवान तुम्हारे वो क्या लीला पीला करते होंगे तो अब ये कहने में हमें संकोच लगता है कि कौए के साथ हमारे जैसे कौए के साथ परम परमात्मा जो सच्चिदानंदन वो हमारे साथ खेले लीला करे तो आप क्या कहोगे इसलिए कहते हैं एक तो मोही धरण जब धावही तो वे सब करते हुए खेलते हैं नाचते हैं तो फिर हम जब वहाँ बैठे होते हैं आंगन में उनके पास तो वो हमको दौड़ करके पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो अब खेल हो गया वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और चलो भाग कल कुछ दिखाना हो और जब वो पकड़ने को आते हैं पास बढ़ते हैं तो हम वहाँ से उड़ जाते हैं पकड़ाई नहीं देते हैं तो जब पकड़ाई नहीं देते तो हमें पास बुलाने के लिए कुछ दिखाओ कुआ दिखाते तो ये खा ये खा करेंगे पाप आवत निकट हट प्रभु अगर हुआ खाने के लिए हमको पाप थोड़ा हुआ थे तो खुश हो जाते हैं हुआ दिखाया जाएगा हुआ दिखाया जाएगा प्रभु फसल प्रभु अभागत रोदन करना ही और जब जब कहते जब हम दूर हो जाए भागने लगे तो बस रोने लगे भाग लो तो भगवान को नाचते हंसते दिए और न रोते दिए बस मुझे पानी मिला जैसे बच्चे हैं वो जहाँ काव्य पास आ गए खुश हो गए और जहाँ उनका दुश्मन थोड़ा दूर भाग गए तब बस पहाड़ होने लगे महादेव ने कहा और जाऊं समीप कहा न पद जाऊं समीप कहा न पद फिर फिर कई पर और कहीं कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम स्वयं उनके पैरों की तरफ जाते हैं और उनके पैर छूना चाहते हैं कि भगवान हम उनकी लीलाएं दूर दूर से देख रहे हैं इस बार उनको उनके समय छूट गए स्पर्श भी तो कर लें तो जब उनके पैरों की तरफ जाते हैं तो वो भागते हैं नहीं कर पाते नहीं और फिर फिर की कई परामर्श से देखते तो वो आगे आ जाकर उनके पास आ गया उठा करो तो कभी तो सही बुलाते हैं है? हाँ, वो हंसना रोना और फिर हम स्वयं उनके पैरों कर जाने लगे तो वो भाग करो करके तो प्राकृत लीला देश भयो महीनो ये सब प्राकृत बालकों की बात है जैसे संसारी बालकों जरा देर हंसने लगे जरा देर में रोने लगे अगर उनके पास कौआ आने लगे तो कौआ निकल जाए तो भाग खड़े हों चौकब्बा को दिखाकर गुरु दिखाकर दिखा करके उसको पास बुलावे ये जैसे संसारी बालक करते हैं कैसे उन्होंने कभी भी गाएंगे तो समझ करे के तरह प्रभु चिदानंद संदोष पर हमारे मन में आया है ये तो चिदानंद संदो पर कृष्ण स्वरूप आनंद धन पर ब्रह्म परमात्मा है उन्होंने अवतार दिया ये लीला है ये कोई मनुष्य तो नहीं है कि लीला ही भगवान नहीं है कि ये मनुष्य है कोई ऐसा तो नहीं प्राकृत कुछ हो कोई संसारी मनुष्य हो बस ये जब उनके मन में नहीं दिखाएंगे तो इसके मन संदेह नहीं बस संदेह का जरा था उसकी तरफ ध्यान दिया कहाँ पर अगर ध्यान ही रहे भगवान है भगवान है चिदानंद है लेकिन प्रार्थना बस किसी को बस इतना लगा कि प्रार्थक है बस किसी ने उनको जो है वो मोहग्रस्त कर दिया अब आगे देखिए कि बस इतना मन आनंद खबर आया प्रेम की व्यापी माया बस उसके बाद बाद भूषण को भगवान की माया कैसे देख लेती है और वो लीला कैसे माया दिखाती है वो समझ Amém.